फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे हाथों के कमल कुमलाएंगे और बर्ग ज़बाँ से लुत्फ सदा की हर तितली उड़ जाएगी फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे हाथों के कमल कुमलाएंगे और बर्ग ज़बाँ से लुत्फ सदा की हर तितली उड़ जाएगी एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई फूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी खूँ की गर्दिश दिल की धड़कन सब रागनियाँ सो जाएंगी नीली और और नीली फ़ज़ा की मखमल पर हंसती हुई हीरे की ये कनी ये मेरी जन्नत मेरी जमी इसकी सुबह इसकी शामें बेजाने हुए बेसमझे हुए एक मुश्त गुबार इंसान पर शबनम की तरह रो जाएंगी हर चीज़ भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुतखाने से हर चीज़ उठा दी जाएगी फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा बच्चों के दान से बोलूँगा चिड़ियों की जबान से गाऊँगा जब बीज हंसेंगे धरती में और कोपलें अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूँगा सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूँगा मैं रंगे हिना आहंग गज़ल अंदाज सुखन बन जाऊँगा मैं रंगे हिना आहंग गज़ल अंदाज सुखन बन जाऊँगा रुखसार से नौ की तरह हर आँचल से छन जाऊँगा जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसल ख़ज़ा को लाएंगी रहरों के जवा कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी और धरती की सुनहरी सब नदियाँ आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा आकाश की नीली सब झीलें धरती की सुनहरी सब नदियाँ आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा ज़माना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है हर आशिक है सरदार यहाँ हर माशूक़ा सुल्ताना है हर आशिक है सरदार यहाँ हर माशूक़ा सुल्ताना है मैं एक गुरेजा लम्हा हूँ अयाम के अफसू खाने में मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मुस्तबिल के पैमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मैं मर के अमर हो जाता हूँ अली सरदार जाफरी सिर्फ उर्दू शायरी ही का नहीं पूरे हिंदुस्तानी अदब का एक ऐसा रोशन और तामिंदा नाम जिसकी रोशनी लगभग पिछली पौन सदी को मुहित है जाफरी साहब ने एक शायर के तौर पर एक अदीब के तौर पर एक नक़ाद के तौर पर और एक दानश्वर की हैसियत से न सिर्फ ये कि वो अपने दौर से मुतारफ़ हुए बल्कि उन्होंने इस दौर को मुतासर भी किया जाफरी साहब को मुख्तलफ़ एजाज़ात और इनाम से सरफराज किया गया है जिनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों इनाम और एजाज़ात शामिल हैं हाल ही में उन्हें ज्ञानपीठ एवार्ड से सरफराज किया गया है इस मौके पर वो हमारी खुशकस्मती से दिल्ली तशरीफ़ लाए हुए हैं और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं तो उनके साथ कुछ गुफ्तु होगी जो आप मुलाजा करना जाफरी साहब यूँ तो आपके लिए एजाजा और इनाम कोई नई चीज़ नहीं है आपको मुख्तलिफ़ मुल्क की और बल्कि बैन अवी सतह के एजाजा और इनाम से भी सरफराज किया गया है और हाल ही में इकबाल एजाज़ से भी आपको सरफराज किया गया लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड की अपनी एक अहमियत है और जब ये अवार्ड दिए जाने का आपको ऐलान हुआ तो पूरी उर्दू दुनिया में एक मसरत की लहर दौड़ गई ये शायद उर्दू में तीसरा अवार्ड है जो किसी अदीब को शायर को या दानश्वर को उर्दू के दिया गया है तो कुदरती तौर पर लोगों का ये एहसास है कि ये आपकी अदर अफजाई और इज़्ज़त अफजाई के साथ साथ उस ज़ुबान का भी एतराफ़ और एज़ाज़ है जो आपकी मादरी ज़ुबान भी है और जो आपका तख्लीकी वसीला इजहार भी है यानी उर्दू ज़ुबान तो इसलिए पूरी उर्दू दुनिया में इस वक्त एक मसरत की लहर दौड़ी हुई है आप इस मौके पर क्या महसूस फरमाते हैं नहीं अब बहुत हमें खुशी है कि ये इनाम मिला इसलिए कि इस इनाम की एक खसूसियत ये है कि ये एक शख्स को मिलता है लेकिन इंतखब हिंदुस्तान की चौदह पंद्रह ज़बानें मिल के करती हैं यानी उनके नुमाइंदे और दूसरे ये कि गैर सरकारी इनामात में इसका दर्जा सबसे ज़्यादा बुलंद है और सबसे ज़्यादा पुराना भी है तो इसकी एक प्रेस्टीज है इसमें और मुझे बहुत से इनाम मिले और जाहिर है कि मेरे पास मुबारकबाद के खतूत भी आए तार भी आए लोग भी मिलने आए लेकिन जो बारिश तहनीत की इस इनाम के बाद हुई है उतनी कभी नहीं हुई और वो तमाम हिंदुस्तान की ज़बानों की तरफ से है और उनके बड़े बड़े अदीबों और शायरों की तरफ से है उसके अलावा इदारों की तरफ से है सियासी जमातों की तरफ से है तो इस इनाम ने एक हिंदुस्तान गिर हैसियत हासिल कर ली है और इसका वक़ार है इस इना, इस इनाम का तो मुझे बड़ी मुसरत है क्योंकि ये इनाम मुझे मिला उर्दू का तीसरा है लेकिन इस एतबार से एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पहला इनाम फिराक को मिला जो गज़ल के नुमाइंदे थे दूसरा क़ुरतुल्न हैदर को जो जो नुमाइंदगी करती हैं फिक्शन की और तीसरा इनाम मुझे मिला जो नुमाइंदगी करता है नज़म की और हमारा हाँ ये बड़ी दिलचस्प बात है इस तरह हमारा पूरा उर्दू अदब इसमें शामिल है और इस वक्त सबकी निगाहें उर्दू ज़बान और उर्दू अदब पर हैं और ये मौका है कि जब उर्दू वाले अपने मसाइल को भी और अपने इस एहसास को कि यह हमारी ज़बान है हमारे देश की ज़बान है और इस ज़बान ने हमारे देश की खिदमत की है और इसी की हवाओं में इसने बालिदगी हासिल की है इसी की मिट्टी की इसमें खुशबू है ये एहसास आम करना बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि बाद सियासी मसलहतों की वजह से गलत फहमियाँ फैलती रही हैं और अब भी शायद फैली हों लेकिन इस इल्ज़ाम से कम हो जाती हैं जब लोग फ़िराक की सर सूरत देखते हैं क़ुरतुल्न हैदर का नाम सुनते हैं मेरा नाम सुनते हैं तो उनको एतबाद हो जाता है कि हाँ ये ज़बान हिंदुस्तान की अजीम ज़बानों में से एक ज़बान है जाफरी साहब आपने बहुत अच्छी ये बात फरमाई कि उर्दू के सिलसिले में जो इस वक्त कुछ फजा बनती है इस तरह के मौक़ों पर उससे उर्दू वालों को इस्तेफादा करना चाहिए और आपका ये सजेशन आपका ये मशवरा मैं समझता हूँ कि उर्दू वाले ध्यान से तवज्जो से सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे खुद आप भी उर्दू वालों से अलग नहीं है लेकिन इसलिए पूरी उर्दू दुनिया आपसे भी ये तो करती है कि उर्दू के जो मसाइल हैं जो उर्दू के मामला हैं जो उसकी मुश्किल हैं उन्हें दूर करने में आप भी बराबर हिस्सा लेते रहे हैं और आइंदा भी हिस्सा लेते रहेंगे और रहबरी करते रहेंगे जाविर साहब आप का तारुफ एक मार्क्सी दानश्वर की हैसियत से हुआ अपने शुरू इब्तदाही से और फिर आप जो मार्क्सी की नुक़ नज़र की हामिल तरक्की पसंद अदबी तहरीक थी आप उसके काफिला सालारों में रहे हैं इस तहरीक को फ़रोग देने में इसे आगे बढ़ाने में इसके खदोखाल मुतन करने में आपकी खदमात को किसी तरह भी फरामोश नहीं किया जा सकता नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता आज भी लोग जानते हैं कल भी जानते रहेंगे ऐसा लगता है कि मार्क्सिज्म एक फ़लसफ़े के तौर पर या एक न, एक ऐसे नज़रिए के तौर पर हमारे सामने आया जिसने ज़िंदगी को एक नई नहज से देखने का हमें मौका दिया लेकिन मार्क्सिज्म के बदन से पैदा होने वाले कम्युनिज़म ने एक निज़ाम हयात या एक सियासी निज़ाम की हैसियत इख्तियार की और उसका एक बड़ा बैन अवी तजर्बा किया गया लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो निज़ाम तो तकरीबन बिखर गया है और तहरीक का ज़ोर और तोानाई भी कुछ कम होती जा रही है तो इस सिलसिले में आपके एहसास क्या हैं देखिए ये गुफ्तु दूसरे नहज की है और बहुत तवील है मार्क्सिज्म हाँ नहीं तो मैं मैं मार्क्सिज्म जो है ए, उसको बेरा ज़माना जो था शूर का और जवानी का उस वक्त वो दुनिया पर हावी थी जी सही। वो तस्वुर हावी था तो दरअसल कौन सी चीज़ है जो दुनिया के दिल को मोहने की कोशिश कर रही थी या दुनिया जो उसकी तरफ मुतवजह हो रही थी अगर आप उस वक्त के अहद को देखें तो कोई बड़े से बड़ा दानश्वर और बड़े से बड़ा मुफक्र ऐसा नहीं है जो मार्क्सिज्म से मुतासर न हुआ हो हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी तिलक इकबाल टैगोर ये सारे बड़े बड़े नाम हैं तो हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं तो हम पर भी उसका असर पड़ा और उस अहद का जितना नौजवान था सब लेफ्टिस्ट थे जी सही तो वो कौन सी चीज़ थी वो दरअसल निज़ाम अकदार देखिए सियासी एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज़ है और निज़ाम अकदार दूसरी चीज़ है मज़हब में और कम्युनिज्म में तकाबुल करना गलत है इसलिए कि एक अकीदा है और दूसरा इल्म है तो लेकिन आप ये देखें कि इस्लाम की अकदार मसावत बराबरी आलमगीर इंसानियत ज़ाती मफाद से बुलंद होकर इंसान का वक़ार अपना कायम करना ज़राए पैदावार में ज़मीन का इनफरादी न होना बल्कि ज़मीन का इज्तमाही मिल्कियत होना ये वो तस्वुरात हैं जो बारवर हुए कम्युनिज्म के निज़ाम में जो सोवियत यूनियन में कायम हुआ चंद साल रहा क्योंकि दुनिया जो है वो हर एक हरकत में है हाँ। और उसमें तगैर जो है वो परमानेंट है बाकी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है तो इसलिए जो चीज़ ख़त्म हुई है वो एक तजुर्बा ख़त्म हुआ है न कि निज़ाम अकदार निज़ाम अकदार बाकी है इस पर मैंने एक मजमून लिखा है जो इसमें एशियन एज में पांच कस्तों में शाया हुआ है इकबाल कम्युनिज्म और इस्लाम और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस पर लेक्चर भी दे रहने वाला हूँ मार्च में कि क्या निज़ाम अकदार हैं और किस इकबाल किस तरह मुतासर हुए और किस तरह से और चीज़ें और ये अरूज और जवाल जो है इसके बगैर तो ये दुनिया चलती नहीं है यानी यह कि अगर एक तजर्बा नाकाम हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्सिज्म ने अपनी मान नहीं तजुर्बा नाकाम नहीं हुआ जी नहीं देखिए तजुर्बे ने क्या चीज़ दी जी सोशल वेलफेयर इस्टेट का तस्वुर दिया इस तजुर्बे ने उन्नीस सौ सत्रह से पहले ये नहीं था अनएम्प्लॉयमेंट डोल दिया इकोनॉमिक प्लानिंग दी हम्म। और इस तस्वुर को कि इंसान के हकूक़ बराबर हैं एक इतना आम तो कर दिया कि अब वो उसका विकार बन गया है और उसके बाद वो अपना काम ख़त्म किया और चली गए इकबाल का मुझे लेकिन क्या ऐसा नहीं जाफी साहब कि मार्क्सिज्म की मानवीयत अभी भी अपनी जगह देखिए सिवाय सिवाय मार्क्सिज्म के कोई भी इल्मी नज़रिया ऐसा नहीं है जो अहद हाजिर के मसाइल को संभाल सके इस वक्त अमेरिका में मार्क्सिज्म का के बारे में को गौर किया जा रहा है आप उसे नई मार्क्सिज्म कहें नया इंटरप्रटेशन कहें वो तो करने की तो ज़रूरत पड़ इसलिए कि मार्क्स के ज़माने में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं थी वो तो हमारे मज़हब में भी जी तो उसे उस नज़र से ये गुफ्तु हाँ। और ये ये आज का आज का मौजूद ही था आज का मौजू न सही लेकिन चूंकि आपका जब तस्वुर आता है तो ये इन चीज़ों का की तरफ भी ध्यान कुदरती नहीं तो आप इस वक्त तो मेरा बहुत वहदत इंसानियत लेकिन जामयत के साथ आपने अपने ख्याल का इजहार फरमाया अच्छा जाफरी साहब यह है कि जब आप लोगों ने लिखना शुरू किया तो आपके बहुत से साथी थे आपके बहुत से हम असर थे मसलन फेज थे मसलन मजाज थे मसलन जज्बी थे शायर थे बहुत से लोग हम्म। थे तो उस ज़माने में जब आपने एक साथ लिखना शुरू किया तो किस तरह की आपकी रफाकतें थीं या किस तरह की कुछ रिकावतें भी थीं कुछ इस सिलसिले में अगर आप बताना चाहें तो मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वालों को अच्छा भाई वो बड़ा बड़ा दिलचस्प दौर था जी और रकाबतों के बारे में जी तो कोई खुला हुआ वाक़ नहीं है ऐसा कि जिसको आदमी बयान करे कि साहब इनकी रफाकतों में दरार पड़ गई हैं या हाँ ऐसा कोई वाक़ नहीं है देखिए लखनऊ से सात शायर ऑल इंडिया रेडियो पर पेश किए गए सन 1940 में जी हाँ ये अच्छा नौ वारिद शुरा का उनवान से उसमें लून मीम राशिद फैज़ मजाज मखदूम जज्बी जालिसार अख्तर और मैं अच्छा। हम सात शामिल थे सोमनाथ चिप उसके डायरेक्टर थे उसमें पहली बार लखनऊ के इस जिसमें मुझे सराज लखनवी याद है अच्छा और दूसरे इस वो हमारे सामीन हमारे सामीन थे और वो ये सुनने आए थे कि ये किस कस्म की नई नस्ल है ये क्या बातें कर रही है तो उसका जो असर था अच्छा सिदारत जोश वाली आबादी ने की थी अच्छा लेकिन उन्हें कलाम पढ़ने की इजाज़त नहीं थी <laughs> जोश साहब को वो भी एक तरह से सामे थे हाँ हाँ वो भी सामे थे तो जब हम लोगों का कलाम इन लोगों ने सुना तो एक एक एहसास ये हुआ इनको कि ये ज़बान नहीं है लेकिन इसका जो रूहानी प्याम है जो तख्लीकी इसकी रूह है, है वो वही है जो हमारी क्लासिकी रूह है अच्छा। और उसका असर मसल सिराज लखनवी पर क्या पड़ा मैं इसको तीन शेरों में बता सकता हूँ सिराज मशहूर है इसलिए कि आप लखनऊ ख़ास लखनऊ का मिजाज आपके पाँव के नीचे दिल है एक ज़रा आपको जहमत होगी लेकिन दिन सिराज ने बम्बई में मेरे घर आके मुझे जो अपने अशार सुनाए और जो उनकी किताब में शामिल हैं और वहाँ मैंने एक महफिल की जिसकी सदारत मैंने शकील बदायूनी को दी अच्छा। अपने घर में अच्छा। और वहाँ सिराज साहब का मैंने कलाम सुना तो उसके मैं दो शेर आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने इस शे का असर ए, कितना कबूल किया और किस हद तक कबूल किया वो दो शेर ये हैं कि ख़बर रिहाई की मिल चुकी है चराग फूलों के जल रहे हैं खबर रिहाई की मिल चुकी है चराग फूलों हाँ, के जल रहे हैं मगर बहुत तेज़ रोशनी है कफस का दर सूझता नहीं है गज़ल का शेर हाँ बिल्कुल बदला हुआ लहजा ये वो नहीं आपके पाओगे नहीं और इससे भी आगे बढ़ के कि शरह नादारी हैं खाली हाथ सूखी आस्ती आज माथे पर मशक्क़त का पसीना भी नहीं तो ये इस तहरीक की कामयाबी है और अब आप इन सात शायरों को देखिए जो एक साथ आए थे सातों ने कोई ना कोई मकाम हासिल किया है फैज़ ने मकबूल तरीन बल तरीन मकाम हासिल किया मखदूम ने जो मकाम हासिल किया हैदराबाद में उनकी परस्तिश होती है जज्बी ने जो मकाम हासिल किया मजाज ने वो जो मजाज का गनाई वफूर है वो तो हमारी शायरी को मिला नहीं कहीं और से तो ये नहायत कामयाब तहरीक थी इस एतबार से और इसने अपने असरात छोड़े हैं इसने नया डिक्शन दिया है नया जमालियाती एहसास दिया है लेकिन हर नई चीज़ की तरह इसके अंदर भी यानी अच्छे और बुरे रथ वो याबिस जिसको कहते हैं तो वो बड़े से बड़े शायर के कलाम में होते हैं हाँ, हाँ। तो एक तहरीक में भी होंगे इंतहा पसंदी इसमें थी लेकिन जब कोई बड़ा शायर आता है कोई बड़ी तहरीक होती है तो वो इंतहा पसंद होती है हम पर इल्ज़ाम है कि हमने इस का एहतराम नहीं किया लेकिन इकबाल ने तो हाफिज़ शिराजी को गाली दी <laughs> हाँ इसलिए कि हाफिज़ हाफिज़ हाफिज़ उनके हाँ कि हाफिज़ के की जो नरमी थी वो इकबाल की अजमत में हायल थी अब वैसे हाफिज़ का बड़ा असर है इकबाल पर तो इस तहरीक में ये तमाम चीज़ें थी अच्छा और देखिए इसके साथ जो नसर आई जो चार सतून हैं कृष्ण चंदर कृष्ण इसमत बेदी मंटो आप देखिए कि इन चारों का डिस्टिंक्ट स्टाइल है उर्दू का एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और हम असर हैं मौजू एक है लेकिन ज़बान पर जो इसमत की कुदरत है जो कृष्ण चंद्र का आबशार नगमा कहना चाहिए है या जो मंटो की सादगी है और तीखापन है जो बेदी की नफसियाती गहराई है तो ये तमाम चीज़ें बड़ा कामयाब इसने प्रेमचंद से हमारे अफसाने को आगे बढ़ा दिया जी सही है अच्छा, जाफरी साहब ये तो आपके हम असरों की बात हुई आप अपने पेशरो शरा में मैं समझता हूँ कि मीर गालिब इकबाल अनीस इनसे बहुत करीब रहे हैं और जो साहब का भी आपने जिक्र किया उनसे भी आप शायद बहुत करीब रहे हैं जहनी एतबार से तो मैं ये चाहूँगा कि इनके बारे में भी आपने जैसे अभी हम आपके अपने हमसर शरा के बारे में और अफसाना निगारों के बारे में बड़ी अच्छी तनकीदी आरा का इजहार फरमाया तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे शरा हैं और जिनके बारे में आप लिखते भी रहे हैं उनका कलाम भी आपने मुरतब फरमाया है तो हम अपने पढ़ने वालों को भी शरीक करें आपके ख्याल में ख़ास तौर पर गालिब चूँकि इस ज़माने में उनकी दो सौ साल जश्न भी मनाया जा रहा है कुछ आप इर्शाद करना है सब गालिब तो ये आपने चार बहुत बड़े नाम लिए हैं और जो यकीनन उर्दू शायरी के सबसे बड़े नाम हैं उसमें एक पाँचवा नाम नज़ीर अकबर आबादी का भी शामिल करना चाहिए जिसको कभी क्लासिकी से अदब ने कबूल नहीं किया और आज भी एक मिजाज है जो नज़ीर अकबर आबादी को कबूल नहीं करता है बहरहाल इस वक्त हम चार शायरों की बात कर रहे हैं तो मेरा अंदाज़ा ये है कि मीर खुदाए सुखन तो ज़रूर है लेकिन पैगम्बर सुखन गालिब है जी सही, हाँ। सही। पैगम्बर सुखन गालिब है और वो वो मैं देख लूँगा लुक आफ्तर हाँ, पैगम्बर सुखन जो हैं वो गालिब हैं और इसी तरीके से इकबाल ने भी पैगम्बरी का दर्जा इख्तियार किया इसको मैंने अभी एक बड़ी दिलचस्प इश्तारे में बयान किया जो गालिब की मैं किताब उस पर बनारस पर नज़म का तर्जुमा कर रहा था तो मैंने उसमें ये कहा था कि शायरी आरइश काकुल भी है और अंदेशा है दूर दराज भी गालिबी के गालिबी के अल्फाज हैं तो इसको अगर हम सादा ज़बान में कहें तो हम कहेंगे कि इसमें गनाई लताफ़त और रोमानियत के साथ साथ फ़िक्री अजमत भी होनी चाहिए उसके लिए मैंने इस्तारा इस्तेमाल किया कृष्ण और राधा का कि कृष्ण के पास गीता भी थी और राधा भी हमारे इन शुरा में इकबाल के पास गीता तो है राधा नहीं है हाँ इंसानी दिल की वो धड़कन नहीं है इश्क का वो तस्वूर नहीं है बहुत ही अच्छे हाँ, अच्छा अच्छा और जिगर हैं जज्बी हैं मजाज हैं फैज़ हैं इनके पास राधा है इनके पास गीता नहीं हाँ, हाँ। है अच्छा लेकिन जो गालिब है उसके पास राधा भी है और गीता भी है और इसलिए अजमत गालिब की इन सब पर हावी है तो मीर के, के प्याम को पैगम्बराना अंदाज से गालिब ने जहाँ पहुँचाया फिर गालिब का डिक्शन जो है वो आज जदीद तरीन हमारी जदीद तरीन ज़बान उर्दू जो लिखी जा रही है वो गालिब की ज़बान में लिखी जा रही है हालांकि वो 200 साल पुरानी हो गई है अच्छा गालिब के हम असर जो थे वो हिंदुस्तान में मोमिन ओक़ दोनों बड़े शायर रूस में पुष्किन आलमी शायर जर्मनी में गेटे आलमी शायर इंग्लिस्तान में वर्सवर्थ कीट्स शैली बायरन ये सब ज़िंदा हैं गालिब भी ज़िंदा है लेकिन अब गालिब का नाम अगर किसी के साथ लिया जाता है तो वो गेटे का नाम है तो गेटे का फाउस्ट और गालिब का एक मिसरा है कहाँ तमन्ना का दूसरा, दूसरा कदम यारब इससे ज़्यादा बलीग इससे ज़्यादा खूबसूरत और असर अंगेज़ मिसरा मुमकिन नहीं है तो ये मैंने एक साइंस की लेबोरेटरी पर भी लिखवा दिया है अच्छा, अच्छा। साइंस के लिए भी इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब आप मरीख पर पहुँच जाइए सूरज से आगे चले जाइए उसके बाद फिर एक कैश कैशा रखी हुई है तो है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब तो अच्छा मैं अभी एक सरमाए सुखन के नाम से एक उर्दू की लगत तैयार कर रहा हूँ उर्दू शायरी की जिसकी पहली जल्द आने वाली है उसमें मैंने चार शायरों को ख़ास तौर से अहमियत दी है मीर को मुस्तंद होने की वजह से और गालिब को ज़्यादा बलीग होने की वजह से इकबाल को ज़्यादा तख्लीकी होने की हैसियत से और जोश को मुस्तंद होने की हैसियत से इन चार शायरों को ख़ास तौर से मैंने दिया है अनीस के यहाँ से भी लिया है फ़िलहाल अनीस को हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो एक अलग समंदर है बहुत बहुत बड़ा अच्छा जाफरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका